Father आग में हाथ नहीं डालेंगे और जब दूध पीने से जीवन ठीक ठीक चलेगा तो दूध पीएंगे जिसमें अनुशासन की तो कोई आदत होते ही नहीं डाले करते लेकिन आप जानते हैं कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं होता जिसके अंतकरण में राज देश पहले से न रहता हो तो राजदत्त पक्षपात करता है और द्वेषदत्त निर्दयता करता है जिसका अभ्यास होता है उसमें राज हो जाता है और ये काम कभी तो करना नहीं पड़ा हो गुलामी हो उसके बारे में चिंतना उद्वेश तो हो जाता है तो मनुष्य राजदेश की गति दूत होकर के अपनी रहनी न बनाए विधान की वशवर्ती रह करके अपनी रहनी को बनाए इसकी जरूरत करते है जैसे आपको सड़क पर संज्ञान होकर लेके कायदा गए कि बाढ़ से जाए तो आप ठीक ठीक चलेंगे नहीं तो देखेंगे कि में और रास्ता खुला है उधर मोटर दौड़ाओगे एक बार दो बार निकल जाएंगे और कभी न कभी आकस्मिक संस्कृत में तो एक्सीडेंट को आकस्मिक दंत बोलेंगे अकस्मात दंत कोई न कोई आकस्मिक घटना ऐसी घटेगी कि फिर घायल हो जाएंगे तो मनुष्य के जीवन में अनुशासित रूप से अनुशिष्ट रूप से रहना चलना आवश्यक होता है तो वेद का दो भाग हमारे लिए कर्तव्य है और अकर्तव्य का निर्धारण करता है उसको विधि भाग कहते हैं उसमें शब्द राशि की प्रधानता होती है कानून के अक्षर देखे जाते हैं कोई भी देश कोई भी राष्ट्र कोई भी जाति कोई भी संप्रदाय अनुशासन के बिना जीवन नहीं धारण कर सकता जीवित नहीं रह सकता दूसरा भाग जो है वो वस्तु का अनुसंधान करने के लिए है यथार्थ वस्तु का अनुसंधान करने के लिए ये क्या है तो लोक व्यवहार में ये बात देखने में आती है कि पहले हम इंद्रियों से अनुभव करते हैं और फिर उसके बारे में एक संस्कार अपने चित्त में धारण करते हैं ये जैसे डॉक्टर लोग हैं अमुक रोग पर अमुक औषधि का प्रयोग करते हैं उसका अनुसंधान करते हैं इस रोग में क्या क्या कमी शरीर में होती है क्या क्या अधिकता शरीर में होती है और उस दया को जब हम पेट के भीतर डालेंगे शरीर के भीतर डालेंगे रस रक्त में डालेंगे तो उससे कौन कौन सी कमी पूरी होगी और कौन कौन सी अधिकता तत्वों की मिटेगी इसका अनुसंधान करके तब वो निर्णय करते हैं औषधि के बारे में रोग के बारे में कि जितने पदार्थ दृष्ट के रूप में मालूम करते हैं कोई इंद्रियों के द्वारा मालूम करते हैं कोई मन के द्वारा मालूम करते हैं कोई बुद्धि के द्वारा मालूम करते हैं परंतु जिसके द्वारा ये सब मालूम करते हैं वो वस्तु किसी ही इंद्रिय के द्वारा मालूम नहीं करती है हमें इंद्रिय के द्वारा शब्द स्पर्श रूप रस गंध और इनकी किस्में और इनके अभाव इनकी जातियां और इनके अभाव मालूम करते हैं परंतु जिसको ये मालूम करते हैं वो कौन है ये इंद्रियत अनुभव में बिल्कुल नहीं आता है आंख से देखेंगे हम केवल रूप को शब्द को नहीं देख सकते और काम को सुनेंगे केवल शब्द को रूप को नहीं देख सकते तो ये तो साफ है कि ये इंद्रिया पूरी वस्तु का दर्शन नहीं कराती हैं अधूरी अधूरी वस्तु का दर्शन कराते हैं और मन से तो हम जिन जिन वस्तुओं का संस्कार है उन्हीं को जान सकते हैं बुद्धि से हम अन्य व्यतिरेक के द्वारा केवल ये सोच सकते हैं कि इसके बिना ये चीज नहीं होती तो ये कारण है और इसके बिना भी ये चीज रहती है तो कारण है और ये इसके बिना चीज रह नहीं सकती तो ये कार्य है बुद्धि के द्वारा अन्य व्यतिरेक अनुगत और व्यतिरिक्त का विचार करके ये निश्चय करते हैं कौन तो किसने पैदा हुआ और कौन तो किसमें लीन होता है लेकिन ये पैदा होगा और लीन होना ये भी बुद्धि के सामने होता है और बुद्धि स्वयं भी पैदा होती और लीन होती है तो ऐसी अवस्था में जो साक्षी है उस साक्षी को हम विचार के द्वारा बुद्धि के द्वारा अपनी अनुभूति के द्वारा पता लगाने की कोशिश करते हैं तब भी साक्षी कितना बड़ा है लंबाई चौड़ाई साक्षी की कितनी साक्षी की उम्र कितनी कब से कब तक साक्षी रहता है कितनी दूर में फैला हुआ है और साक्षी असल में क्या है उसका स्वरूप क्या है वो अद्वितीय है कि सद्वितीय है जब इस बात का पता लगाना होता है तो सारी इंद्रियां जवाब दे देती हैं मन जवाब दे देता है बुद्धि जवाब दे देती है यहाँ तक कि साक्षी स्वयं भी अपने आप को यदि देखना चाहता हो तो अहम अपनी इतना तो वो जानेगा कि मैं हूँ और वृत्ति का भी साक्षी रहेगा अहम नास्मी ऐसा कभी नहीं जानेगा साक्षी को कभी ये ज्ञान नहीं हो सकता कि मैं नहीं हूँ बुद्धि वृत्ति से तादाद में करके जो ये जानेगा कि मैं हूँ तो जागृत अवस्था में मैं हूँ ये वृत्ति रहेगी स्वप्नावस्था में भी रह सकती है सुसुप्ति अवस्था में मैं हूँ ये वृत्ति ही नहीं रहती है परंतु मैं नहीं हूँ ये वृत्ति कभी बन नहीं सकती तो मैं हूँ इस वृत्ति से विलक्षण और मैं नहीं हूँ इस वृत्ति से भी विलक्षण साक्षी का स्वरूप मालूम करता है ये विलक्षण जो साक्षी का स्वरूप है ये अद्वितीय है कि सद्वितीय ये अनंत है कि शाम ये विभू है कि परिच्छिन्न ये बात किसी भी युक्ति से स्वयं साक्षी भी अपने अनुभव से अपनी अनंतता को दृश्य नहीं बना सकता तब साक्षी की अनंतता का ज्ञान कैसे हो इसके लिए उपनिषद की जरूरत पड़ती है उपनिषद की जरूरत यह है उपमाने उपसभ्य निमाने निष्कृष्ट सब सदनम ज्ञानम उपसद्य निष्कृत्य सदनम सब ज्ञानम सदन विसरागत साधने से गुरु के चरणों में बैठकर उनके कार्य है उपसद्य गुरु के चरणों में बैठकर और जितने ज्ञान होते हैं घट प्रसादी के इंद्रियों के मन के बुद्धि के साक्षी भाव के सुसुप्ति स्वप्न जागृत के कोष के जितने भी ज्ञान होते हैं उन ज्ञानों को निचोड़ कर उन संपूर्ण वृत्तियों को निचोड़ कर उनको सब दिया माने गुरुदेव के चरणों में बैठ करके और संपूर्ण वृत्तियों के जो तत्पदाकार हैं उनको निचोड़ करके निचाट दिया विचित्र्य उसमें जो एक रस वस्तु होती है उस उसमें अवस्थान सब सदनम अवस्थानम अभेद रूप से उसमें अवस्थित होना उसको जानना कि मेरा ये स्वरूप है ये बात उपनिषद बताते हैं उपचार्य निकृष्य निष्कृष्य सदनम गुरु के चरणों में बैठ करके और संपूर्ण दृश्य पदार्थ ज्ञाता दिन जितना भाषता है जितनी भी त्रिपुटी है उसको निचोड़ करके तो उसमें जो एक रस ज्ञान स्वरूप आत्मा है ये आत्मा ब्रह्म है अद्वितीय है ये बात उपनिषद बताती है तो भाई और सब ज्ञान तो इंद्रियों से हो जाता है और जो परोक्ष होता है इंद्रियों से उसको बताने के लिए शब्द की जरूरत पड़ती है ये देखने में आता है कि कुछ चीजें सूर्य की रोशनी में मालूम कर जाती हैं और कुछ चीजें चंद्रमा की रोशनी में मालूम कर जाती हैं और कुछ चीजों के लिए जबान से बोलकर बताना पड़ता है कि अमुक चीज है शब्द से परोक्ष तो ज्ञान तो होता देखने में आता है परंतु अपरोक्ष ज्ञान भी शब्द से अपरोक्ष ज्ञान के लिए भी क्या शब्द की जरूरत है अयोध्या जब रख दिया ये हमारी नाक है आंख के नाक की नोक दिख गई इसका नाम नाक है जिससे गंध मालूम करता है उसका नाम नाक है हमारे मन के सहयोग से इंद्रियों के सहयोग से आंख से देख के जान लिया कि इसका नाम नाथ है क्या इस तरह से नर आत्मा को जान सकेंगे नहीं जहाँ भ्रांति होती है वस्तु तो बिल्कुल साक्षात अपरोक्ष हो परंतु मालूम न पड़ती है वहाँ शब्द से साक्षात अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है कोई आदमी सामने बैठा हो और उसका नाम न मालूम हो किसी ने बता दिया इसका नाम ये है हाँ, तो मालूम हो जाएगा दस आदमियों में से एक आदमी को गिनने में भूल हो गई तो बता दिया कि दसवा तू है उसका ज्ञान हो गया इसी प्रकार ये वेद जो है ये सबको गिनने वाला जो दसम पुरुष है आत्म वस्तु है वो ब्रह्म है वो अद्वितीय है ये बात बताने के लिए उपनिषद है उपनिषद में हमने देखा ये कठोपनिषद पहले चल रही ये हृदय उपनिषद है ये कई चिड़िया में पाठक ब्राह्मण में ये मिलती है काठका रहने पुस्तक आजकल मिलती नहीं है और काठक ब्राह्मण जो मिलता है उसमें ये कठोपनिषद है नहीं परंतु तो इसकी चर्चा इतनी पुरानी है ब्रह्मसूत्र में वेद व्यास भगवान ने जिसके मंत्रों को लेकर कई सूत्रों की रचना की है शंकराचार्य भगवान का इस पर भाष्य है शंकरानंद जी ने कठोपनिषद पर सात सौ श्लोक लिखे हैं आत्मपुराण में करीब करीब सात सौ आठ सौ श्लोक कठोपनिषद की व्याख्या करने के लिए आत्मपुराण में है अनुभूति प्रकाश में विद्यानारायण स्वामी ने एक अध्याय ही कठोपनिषद पर लिखा है महाभारत के अनुशासन पर्व में कई अध्यायों में कठोपनिषद की कथा है इसका अभिप्राय ये है कि कठोपनिषद एक सर्वमान्य पुस्तक है और ये बहुत प्राचीन काल से चल रही है ये किसके लिए है कि तो ये हमें हमारा स्वरूप बताने के लिए है हमें हमारा स्वरूप बताने के लिए तो हमें हमारा स्वरूप बताने से क्या लाभ फायदे की एक बात सुनाते हैं तो हम हम, हम अगर अपने को जान लें तो इसमें फायदा तो देखो कि यदि किसी सच्चे साधु को कोई भोग देने लगे तो ये कहेगा ना कि हम साधु हो के ये भोग नहीं स्वीकार कर सकते अच्छा कोई सच्चे ब्राह्मण को कहे कि आज संध्या बंधन मत करो सांप ही खेल लो तो कहेगा मैं ब्राह्मण होके संध्या बंधन के समय पर साथ खेलू मैं तो संध्या बंधन करूंगा देखो अपने स्वरूप ज्ञान का फल है कि नहीं अपने को ब्राह्मण जानने का फल ये है कि वो संध्या वंदन करे अपने को सन्यासी जानने का फल है कि वो विरक्त रहे अपने को सिपाही जानने का फल है कि वो चौराहे पर खड़े होकर ड्यूटी दे तो अपने को यदि कर्ता जानोगे तो हमें पाप नहीं करना चाहिए पुण्य करना चाहिए ये फल निकलेगा अपने को यदि भोगता जाने जानोगे तो हमें दुख नहीं मिलना चाहिए सुख मिलना चाहिए ये फल निकलेगा यदि आप अपने को दृष्टा जानोगे तो संसार से राग द्वेष की निवृत्ति हो जाएगी और यदि आप अपने को कदाचित ब्रह्म जान लो तो सारे भेदक भ्रम ही मिट जाएंगे और सारे भेदक भ्रम मिट जाने पर ये प्रांतीयता और ये सांप्रदायिकता और ये राष्ट्रीयता राष्ट्रीयता को हम इस समय अच्छे अर्थ में प्रयोग नहीं कर रहे हैं वो राष्ट्रीयता जो एक दूसरे राष्ट्र में संघर्ष की सृष्टि करती है राष्ट्रीयता का व्यामो और ये बात कम्युनिज्म और सोशलिज्म और फलाना है ना जिसके कारण देखो वियतनाम में लड़ाई होती है बाबरी के कारण तो होती है ना कई तो सांप्रदायिकता ये सीमा का मोह जिनके कारण द्वंद्व की और संघर्ष की सृष्टि होती है वो सारे कारण भेदक भ्रम से हैं और भेदक भ्रम कट जाता है अपने को अद्वितीय ब्रह्म जानने से केवल मर्तलोक के निवासी नहीं अनंत कोट ब्रह्मांड और उनके निवासी संपूर्ण माया की सृष्टि अपना स्वरूप है इसमें न कहीं अहंकार है न स्पर्धा है न राग है न द्वेष है ऐसा जीवन मुक्त शांत जीवन व्यतीत करने के लिए संपूर्ण कलहों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए अनर्थों से दुखों से अपने आप को ये जानना कि मैं कौन हूँ ये आवश्यक है इसके बिना अंधेरे में भटक रहे हैं इसके कारण भ्रांति भ्रांति में भटक रहे हैं क्यों का तो अपने को जाने बिना अपने को जाने बिना ये सारा दुख प्राप्त हो रहा है तो अपने को जानना चाहिए और वो अपने स्वरूप का ज्ञान ये ये साधारण ज्ञान नहीं फूल का ज्ञान नहीं है ये भोजन का ज्ञान नहीं है देखो नाक के लिए लोग तरह तरह के इत्र बना लेते हैं एक प्रकार का वो भी तो ज्ञान है ना जीव के लिए तरह तरह की रसोई बना लेते हैं एक तरह का वो भी ज्ञान है आंख के लिए तरह तरह के रूप कथा दिखाते हैं फैशन तरह तरह के चलते हैं तो वो आंखों को भोग देने के लिए एक प्रकार की रसोई तो है ना है ना रूप जो है वो आंखों की रसोई है इत्र जो है वो नाक की रसोई है और ये हलवा पूरी जो है ये जीव की रसोई है और ये कोमल कठोर जो है ये त्वचा की रसोई है और ये आलाप जो करते हैं ना आ है ना ये भैरवी और ये निषाद और ये गांधार ये काय के लिए काम की रसोई है वो है ना काम को तरह तरह का स्वाद देने के लिए कान को भोजन देने के लिए बनाते हैं ये जो लोग अपना रंग रूप सजाते हैं ना अपने लिए ही ये दूसरे की आंखों को तृप्त करने के लिए जैसे परोपकारी लोग बढ़िया बढ़िया भोजन बना के दूसरों के सामने तरफते हुए और ऐसे ही सुंदर सुंदर रूप सजा करके लोग दूसरों के सामने अपने शरीर को परोसते हैं कल देखो मैं कितना बढ़िया हूँ देख के तुम खुश हो जाओ है ना ये ये तृप्तिदायक तो ये सारी भोग की लीला है भोग की लीला है कुछ मोह की लीला है कुछ लोभ की लीला है कुछ क्रोध की करतूत है क्रोध की कारस्तानी है तो है ना कुछ काम की क्रीडा कि कुछ क्रोध की कराना कुछ लोभ की लीला कुछ मोह की महिमा इसी से ये सृष्टि चल रही है और अपने आप को जानो अपने आप को जानो तो तुम्हारे हृदय में बिल्कुल शांति शांति रहेगी ऐसी शांति जो मनुष्य की सरल रहनी में बाधा निकालती है ये जो की माया की रहनी कपट की रहनी छल की रहनी है ये रहनी सरलता में बाधा डालने वाली है और वेदांत ज्ञान होने के बाद जो रहनी है वो सरल रहनी है वो सहज रहनी है वो निष्कपट रहनी है उसमें किसी के प्रति अन्याय नहीं है किसी के प्रति विदेश नहीं है केवल शांति ही शांति है तो ये कठोपनिषद कठोपनिषद के पहले अध्याय की दो बल्ली कहा प्रेम को में पहले हो चुकी थी तीसरी बल्ली के भी दस ग्यारह मंत्र हो गए थे हाँ, लेकिन आपको केवल स्मरण दिलाने के लिए ये बात सुनाता हूँ कि तीसरी बल्ली के पहले मंत्र में ये बात बताई गई है कि जैसे छाया और प्रकाश ये दोनों एक साथ दिखाई पड़े तो असल में छाया नाम का कोई तत्व नहीं है आप जानते हैं ये परछाई जो पड़ती है परछाई इसमें वजन नहीं होता परछाई में वजन होता है तो इसका मतलब हुआ कि परछाई कोई मैटर नहीं है अच्छा उसकी लंबाई चौड़ाई कोई नियत है तो लंबाई चौड़ाई तो उसकी नियत नहीं है और उस रोशनी के साथ रोशनी के साथ बढ़ती और घटती जाती है रोशनी साफ हो ऊपर से पड़े रोशनी तो परछाई का पता ही नहीं लगेगा और पीछे से पड़े आगे से पड़े दाहिने दाहिने से पड़े दाएं से पड़े तो परछाई लंबी चौड़ी सब दिखती है पर न परछाई में लंबाई है न चौड़ाई है अच्छा परछाई की उम्र कितनी है देखो परछाई देश वाली मालूम पड़ती है पर का कुछ नहीं है परछाई काल वाली मालूम पड़ती है परंतु परछाई की उम्र नहीं है क्योंकि स्वयं तो सही नहीं है इसी प्रकार ये प्रपंच ये आत्मदेव और ये कर्ता भोक्ता जीव कर्ता भोक्ता जीव जो है वो छाया है और स्वयं प्रकाश आत्मदेव जो है वो आतक है प्रकाश स्वरूप है ये जब इसी परछाई के साथ एक हो जाते हैं तो परछाई घट गई परछाई बढ़ गई परछाई कट गई परछाई मर गई है ना इसके वो धर्म को अपने ऊपर आरोपित कर लेते हैं ब्रह्मदेवता लोग इस बात को जानते हैं कि परछाई लंबी हो गई तो हम लंबे नहीं हुए बरखाई नाटी हो गई तो हम नाटे नहीं हुए बरखाई चौड़ी हो गई तो हम चौड़े नहीं हुए हैं और परछाई बिल्कुल नहीं दिखती है अभाव हो गया परछाई का हाँ। तो हमारा अभाव नहीं हो गया ये बात ब्रह्मदेव का लोग जानते हैं तो ये कर्ता भोक्ता आभास रूप जो जीव है उसको छाया कहते हैं और जो भ्रष्टा साक्षी स्वयं प्रकाश आत्मदेव है उसका नाम आतप है इस बात को विद्वान लोग जिन्होंने तीन अग्नि का चयन करके भौतिक अग्नि का चयन करके भोग वासना को नष्ट कर दिया है योगाग्नि का चयन करके जिन्होंने मन की चंचलता मिटा दी है और ज्ञानाग्नि का चयन करके जिन्होंने द्वैत भ्रम को द्वैत भ्रम को भस्म कर दिया है वे इस बात को जानते हैं और पांच अग्नि जला करके जिन्होंने पंचकोष को भस्म कर दिया है वे भी इसको जानते हैं वही छाया रूप से कर्म फल का भोक्ता होता है और वही परब्रह्म परमात्मा रूप से अपनी शुद्ध आत्मा है यदि मनुष्य को अपने आप को नियंत्रित करके धर्मात्मा बनाना है तो, तो भी संयमाग्नि में संयमाग्नि से अपने को सेंकना पड़ेगा और यदि अपने को ब्रह्म रूप में जानना है तो भी ज्ञान आदमी के द्वारा भेद भ्रम को भस्म करना पड़ेगा ये बात दूसरे मंत्र में बताई गई तीसरे मंत्र में ये बात कही गई है ये आत्मा माने भोगता है आत्मान रथिराम बुद्धि ये शरीर जो है ये रथ है और आत्मा रथी है और बुद्धि सारथी है और मन बागदेव है और इंद्रियों के घोड़े हैं और ये जो विषय है ये उसके चलने का स्थान है जब हम इस शरीर के साथ बुद्धि के साथ मन के साथ इंद्रियों के साथ और विषयों के साथ अपना तादाद में जोड़ देते हैं तब उनके गुण दोष का अपने ऊपर आरोप होता है हम भोक्ता हो जाते हैं और जब उनको हम अपने साथ नहीं जोड़ते हैं तो संसार की कोई भी वस्तु हमको प्रभावित नहीं कर पाती ये बात तो तीसरे और चौथे मंत्र में कही गई पांचवें मंत्र में और छठे मंत्र में अन्वय व्यतिरिक्त से ये बात कही गई कि जो बुद्धि से परहेज करने वाला आदमी है और मन को बेलगाम छोड़ देता है और जो मन को दो लगाम छोड़ गए उसको क्या बोल रहे हैं बोले बुद्धि से परहेज करता है क्योंकि जब तक मन को सुधारोगे नहीं तब तक क्या होगा रास्ते में चलते हुए मन में आता हो कि आदमी हमारे आगे कैसे चल रहा है इसको धक्का देने गिर पड़े अच्छा तो समझो कि ये बात बड़े आदमियों के मन में नहीं आती होगी बच्चों के मन में आती होगी आप अगर अपने बचपन पर ध्यान दें तो कभी न कभी ऐसी बात जरूर आई होगी कि ये आदमी जो हमको पीछे करके आगे आगे चल रहा है इसको धक्का दे दें ये गिर पड़े और हम आगे बढ़ जाए अच्छा मोटर लेके चलते हैं तो आगे वाली मोटर को पीछे करने का मन में आता है कि नहीं आता है ये तो बड़े आदमी की बात हो गई है अच्छा जो लोग विधानसभा में और लोकसभा में जाते हैं तो वो इनके मन में नहीं आता है कि हम किसी मिनिस्टर को पछाड़ करके खुद मिनिस्टर बन जाए ये बात आती है तो ये बात दूसरे को पीछे करके खुद आगे बनने की बात मन में क्यों आती है बोले अपने मन पर काबू नहीं है हम अपने मन को बुद्धि के अनुसार नहीं चलाते बुद्धि को मन के अनुसार चलाते हैं आगे आगे मन चलता है पीछे पीछे बुद्धि चलते हैं तो जस्तु अभिज्ञानवान भगवती माने जो बुद्धि से परहेज करता है और मन जिसका काबू में नहीं है तो जब बुद्धि से परहेज हो गया और मन काबू में नहीं है तो इंद्रियां कहाँ पे काबू में होंगी वो तो जैसे दुष्ट घोड़े सारथी के काबू में नहीं होते हैं और रास्ते से मोटर चल रही पटरी पर टांगा गिर गया खड्डे में ऐसे मनुष्य का ये जीवन रक्त इन दुष्ट इंद्रियों के कारण कुमार्ग में जा गिरता है और मनुष्य गड्ढे में गिर करके पतित हो जाता है परंतु यस्तु विज्ञानवान भवती छठे मंत्र में ये बात बताई गई कि जो विज्ञान वाला होता है माने जिसको एक से अनेक कैसे होता है माने जिसको कर्म और फल का बोध है समझो ये काम करने से ये फल मिलता है इसको विज्ञान बोलेंगे इस रसायन में इस दवा में ये दवा मिला देने से एक गुण पैदा हो जाता है हाँ। तो ऐसे समझो कि मुक्का मुक्का भस्म जो है वो कर भी न करते तो इसके लिए तो लोग उसको किसी ऐसी चीज में मिलाओ कि ये ठंड पैदा न हो शरीर में तो ये जो मिश्रण का विज्ञान है ना ये जो डॉक्टर लोग कई दवाएं मिला करके एक दवा बनाते हैं इसको विज्ञान बोलते हैं सब चीजों को एक में ले जाकर मिला देना और द्वैत भ्रम का नाश हो जाना ये ज्ञान है और एक चीज से अनेक चीज कैसे पैदा हुई विज्ञानम शिल्पा कारीगरी का नाम विज्ञान है तो ये दुनिया की कारीगरी जिसको नहीं मालूम है कि ईश्वर ने किस नियम के साथ ये सृष्टि बनाई है वो अभिज्ञानवान है और जो इस नियम को समझता है देखो दूसरे का अनुभव करोगे तो तुम्हारा भी अनुभव होगा दूसरे को गाली दोगे तो तुम्हें भी गाली खाने को मिलेगी दूसरे को मारोगे तो तुम्हें भी कोई मारेगा ये सृष्टि का विज्ञान है कि जिस काम के करने से तुम्हारे मन में गुलामी होती है वो काम करोगे तो बाद में मैं दुखी हूँ ये बात जरूर आवेगी मन में ये विज्ञान है विज्ञान क्या है तो ये काम बुरा है ये करके हम पछताते हैं तो ये काम करके पछताते हैं तो आगे चल के जरूर दुखी होंगे जो काम करने से तुम्हारे मन में गुलामी का उदय होता है वो अंत को गतवा दुख का हेतु बनेगा तो संसार के इस विज्ञान को जानना चाहिए इसलिए तो बोले अच्छा भाई आओ बुरे काम छोड़ दें तो बुरे काम नहीं जिसका जिस मशीन से बुरे और भले काम होते हैं है? उस मशीन से ही अपने को असंग बनाना पड़ेगा विज्ञान का सच्चा रूप ये है और मन हो अपने काबू में तो इंद्रिय रूप घोड़े भी बस हो जाते हैं जैसे सधाए हुए घोड़े सारथी के बस में रहते हैं सारथ स्वाद इति सारथी जो घोड़ों को ठीक ठीक चला ले उसका नाम सारथी होता है सातवें मंत्र में और आठवें मंत्र में आनंद के साथ ये बात बताई गई कि जो विज्ञान से अलग है और मन जिसका बस में नहीं है और अपवित्र भावनाएं जिसके अंदर भर गई हैं उसको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती उसको संसार की प्राप्ति होती है संसार की प्राप्ति होना माने जिसको रहने का कोई घर न हो है ना पटरी पर सोता हो और आज पुलिस ने उठाए गए यहाँ रात को नहीं सो सकते तो दूसरी जगह गए तो वहां से भी उठाया गया दूसरे दिन तो तीसरे दिन गए तीसरी जगह गया रोज रोज जिसको अपना बिस्तर सोने की जगह बदलनी पड़े उसको बोलते हैं संसार संसार माने संसरणशील बहती हुई सड़क जहाँ से अपना रोज बिस्तर गोल करना पड़े एक होटल में जाकर रहे बिस्तर गोल किया आ रहा स्त्री छूट गई पुत्र छूट छूट गया जैसे नर्स छूट जाती है वो जैसे नर्स छूट जाती है जैसे होटल की सेविका छूट जाती है जैसे विमान की सेविका छूट जाती है वैसे ये संसार की बस्तें संसार उसको कहते हैं कि यहाँ का गुस्सा यहाँ का पलन यहाँ के रिश्तेदार नातेदार यहाँ के सेवक यहाँ के मालिक यहाँ के मैनेजर सब बदलने पड़ेंगे ये तुम्हारे साथ हमेशा जा नहीं सकते तुम संसार में रह रहे हो तो क्या हमेशा जिंदगी भर ऐसी ऐसे ही बिताना चाहते हो कोई तुम्हारे लिए सिर्फ स्थान नहीं है कि यदि तुम विज्ञान से प्रेम नहीं करोगे और अपने मन को एकाग्र नहीं करोगे और अपने जीवन में पवित्रता धारण नहीं करोगे तो तुम्हें अपना जो असली घर रहने की जो जगह है जहाँ अनंत काल तक निवास करना पड़ता है जहाँ बिस्तर बांधना नहीं पड़ता जहाँ बिस्से कभी अलग होना नहीं पड़ता वो अवस्थान वो वस्तु तुम्हें नहीं मिलेगी बस तुमको तो यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ रोज जेल का तबादला होता रहेगा हो अरे इस जेल से उस जेल में भेज दिया उस जेल से उस जो विवश होकर के जाना पड़ता है जेल इसलिए विवश होकर जाना पड़ता है जहाँ हम लोग रहते हैं उनको छोड़ना तो चाहते नहीं है वहाँ तो प्रेम हो गया वहाँ तो मोह हो गया वहाँ तो संबंध हो गया लेकिन मजबूर होकर के बेटे को छोड़ना पड़ता है बहू को छोड़ना पड़ता है शरीर को छोड़ना पड़ता है कमाई हुई संपत्ति को छोड़ना पड़ता है इसी का नाम है संसार संसरण संसरण संसार संसरण का नाम सड़क पे जाओ सड़क पे जाओ बाबा वही बोलते हैं जहाँ लो हाँ। जहाँ में जगह पाइए खिसकते खिसकते चले जाइए तो, तो यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ ये संसार में कोई भी न स्वर्ग में रहने की जगह हमेशा के लिए न नरक में रहने के लिए न घर में रहने के लिए न होटल में रहने के लिए उसको जगह नहीं मिल सकती क्यों कि उसको अपने असली स्थान का पता नहीं है न सौ तो तत्पद मात्र होती उसको उस पद की प्राप्ति नहीं होती लेकिन यदि असली विज्ञान हो तो यस्तु विज्ञानवान भवती स्वनस्क सदा सुचि सतु तत्पदमापनोती यस्माद भूयो न जायते जस्तु विज्ञानवान भगवती आठवें मंत्र में ये बात कही गई अब आगे की जो व्याख्या है ना नवे मंत्र से वो तो विस्तार से करनी है तो जिसको विज्ञानवान भगवती जिसको संसार का अनुभव है देखो एक बैल को भी दूसरे के खूंटे पर ले जाकर के दूसरी जगह ले जाकर के बांध दिया जाए तो वहां से वो छान बगा चुड़ा करके भाग जाता है घोड़े को लोग दे देते हैं ना दूसरों के घर ले जाते हैं तो वहां से भाग के फिर अपने मालिक के घर चला आता है ये जो हमारी इंद्रियां है ना इंद्रियां इनको बाहर के किसी भी विषय के साथ यदि ले जा करके बांधोगे तो ये वहां नहीं रह सकते ये तो लौट के आवेंगी अपनी जगह पर कोई ऐसी चीज बताओ दुनिया में जिसके साथ तुम्हारी आंख अच्छा 24 घंटे लगातार किसी को देखते रह सकते हो ऐसी आंख नहीं बनाई गई बनाई नहीं गई अच्छा बारह घंटे देखते रह सकते हो अच्छा घंटे भर का ही वादा कर लो कि घंटे भर में हम पलक नहीं गिरावेंगे ये आंख नहीं घुमावेंगे ये विज्ञान है कि नहीं है ये विज्ञान है कि यदि आंख को तुम विषय में लगाओगे तो हमेशा नहीं लगाए रह सकते वो तो एक तनाव की स्थिति है यदि हम यदि हम अपने पलक को खोले ही रखें खोले ही रखें खोले ही रखें तो हमारे मन पर दिमाग पर कितना तनाव पड़ेगा ये तो तनाव की स्थिति है आंख को विषय में लगा देना और यदि आंख को बंद रखें तो घंटे भर बंद रख सकते हैं कि नहीं घंटे भर बंद रख सकते हैं विश्राम जो है वो अपने स्वरूप में स्थित होने में है दूसरे की मोहब्बत में पढ़ करके यहाँ वहाँ भटकने में मन की शांति नहीं है तो यही कान का विज्ञान है यही जीव का विज्ञान है यही नाक का विज्ञान है इसका नाम विज्ञान है यही मन का विज्ञान है तुम अपने से बाहर किसी भी चीज के साथ यदि चाहो कि हम अपनी बुद्धि को अपने मन को अपनी इंद्रिय को है ना अपने हाथ को पांव को शरीर को बांध करके रखेंगे नहीं रख सकते ये संसार का विज्ञान है संसार का विज्ञान ये है कि बिना आत्मनिष्ठ हुए शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती और अपने आप को अद्वितीय जान लेने पर भ्रम की निवृत्ति हो गई और वहाँ सुख मिलेगा वहाँ सुख मिलेगा यहाँ दुख है वहाँ दुख है न कहीं सुख है न कहीं दुख है न कोई शत्रु है न कोई मित्र है न कोई अपना है न कोई पराया है न कहीं जाना है न कहीं आना है समनत कहा अपने मन को अपने हाथ में रखो सदा श्रुति हमेशा पवित्र होकर के रहो पवित्र होकर रहना क्या है नारायण पवित्र होकर रहना ये है कि दूसरे का विश्व और कोई भी दूसरी चीज मत मिला न धन न जन हाँ, न स्त्री न पुत्र न मकान ये जितनी परिच्छिन्न वस्तुएं हैं ना न प्रांतीयता न जातीयता न सांप्रदायिकता न राष्ट्रीयता है ना न मानवता न ब्राह्मण ब्रह्मांडीयता हाँ। कुछ मत अपने साथ मिलाओ माइक को ही अपने साथ मत मिलाओ माया को ही अपने साथ मत मिलाओ तब तुम पवित्र हो पवित्र तुम तो तब हो जब अद्वितीय हो हाँ, अद्वितीयता ही पवित्रता है बस तो जहाँ अद्वितीयता का बोध हुआ तत् तत् पदमाप्रोदी यस्मात भूयो न जायते अब वो पद की प्राप्ति हो गई उस पद की जहाँ से फिर बिस्तर उठाना नहीं पड़ता कहीं जाना आना नहीं पड़ता पोशाक बदलनी नहीं पड़ती हो ऐसी पोशाक मिल गई लोग ऐसी कपड़े ऐसे कपड़े के ख्याल में है ना जो जिंदगी में फटे नहीं मैला न हो जिसको धुलाना न पड़े जिस पर मैल न लगे खोज हो रही है आजकल का वैज्ञानिक ऐसे कपड़े की खोज कर रहा है जिसमें आग न लग सके जिसमें मैल न लग सके जिसमें वो सल सल न पड़ सके है? और जो जल्दी फटे नहीं ऐसे कपड़े की खोज कर रहा है अरे तुम कपड़ा खूब कर रहे हो तुम स्वयं ऐसे हो जिसमें सल न पड़े जिसमें मैल न लगे हैं हाँ, जिसको कहीं आना जाना न पड़े अपने स्थान पर ही परिपूर्ण आत्मनिर्भर स्वावलंबी अपने गांव में ही स्वावलंबी हाँ, प्रत्येक गांव स्वावलंबी ये कैसे होगा अपने आप को जानो सदा सुते ही सतु तत्पद महात्मूर्ति जहाँ से फिर जन्म नहीं लेना पड़ता वो स्थिति तुम्हें प्राप्त हो जाएगी इसी से बताया विज्ञान सार फिर जस्तु नवे मंत्र में ये प्रसंग आया विज्ञान सार फिर यस्तु मन प्रग्रहवान नर सोध्वन पारमात्मोति तद विश्व परम पदम देखो अपने जीवन का सारथी बनाओ विज्ञान को बुद्धि को मूर्खतापूर्ण काम मत करो हाँ। मूर्खतापूर्ण काम क्या है हाँ। अपने को किसी स्थान के साथ किसी वस्तु के साथ किसी व्यक्ति के साथ किसी परिस्थिति के साथ बांध देना इसके बिना तो हम रह ही नहीं सकते हाँ, एक आदमी को बुखार आया और रो रहा था हाँ, आप नहीं बच सकते आप नहीं बच सकते आप नहीं कहा जाता आप नहीं कहा जाता अरे महात्मा ने कहा देखो बचे हुए हो तभी तो बोल रहे हो है और सह रहे हो है ना ये बात बिल्कुल प्रत्यक्ष है चाहे को तो अपने मन को कमजोर करते हो श्री रामानुजाचार्य ने एक जगह कहा है कि ऐसी कोई परिस्थिति सृष्टि की नहीं है जिसको अब तक हमने सह के देख नहीं दिया है हमने जन्म सहे हैं हमने मृत्युएं सही हैं हमने नरक सहे हैं हमने कीड़े मकोड़े की गोलियां सही हैं ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जिसका मैंने सहन न किया हो हाँ पत्नी को मरते देखा पति को मरते देखा बेटे को मरते देखा धन को जाते देखा दोस्तों को बिछुड़ते देखा हाँ। ऐसी कौन सी स्थिति है जिसको हमने सह न लिया हो देख न लिया हो तो बाबा इस अपने विज्ञान को सारथी बनाओ ना ये तो तुम्हारे जीवन का विज्ञान है कि तुमने कितनों कितनों को छोड़ दिया है कितनों को पकड़ लिया है कितनों के बिना रह चुके हो क्या क्या कह चुके हो विज्ञान है तुम्हारी बुद्धि को संसार के संबंध में बड़ा भारी विज्ञान प्राप्त हुआ है इसका फायदा उठाओ किसी स्थान में किसी वस्तु में किसी व्यक्ति में किसी परिस्थिति में अपने आप को आबद्ध मत करो मन प्रग्रहवान न रहा मन की बागडोर बनाओ सोज्वल परमात्मोगी अब तुम्हारे लिए रास्ता नहीं रहेगा रास्ता नहीं मार्ग का पार है मार्ग का पार वो नहीं है जहां हमको पहुंचना है मार्ग का पार वहां है जहां से हम चलते हैं इतनी बात तो समझनी है संकल्प जिसके लिए होता है वहाँ पहुँचना नहीं है संकल्प जिसमें उठता है उसमें रहना है मार्ग है मार्ग का अंत कहाँ है जहाँ से शुरू होता है रास्ते का अखीर कहाँ है जहाँ रास्ते का प्रारंभ है एक आदमी को प्यास लगती है लोटा डोर मांगता है कुएं में से पानी खींचता है, है और पीता है कहाँ पहुँचा तो वही पहुँचा एक उसका जो मित्र था उसको प्यास लगी नहीं थी वो अपनी जगह पर बैठा था प्यास लगाई लोटा डोर लाए और पानी खींचा दुकान पर गए नारियल खरीदा पिया और एक आदमी के मन में नारियल पीने की इच्छा ही नहीं हुई तो पीने की तृप्ति होने के बाद वो कहाँ पहुंचा कि जहाँ वो बैठा है जिसको पीने की इच्छा नहीं हुई मन प्रग्रहवान नरा सोध्वन पारमापनोति तद विष्णु परम पदम अध्ययन प्रारंभ रास्ते का पार जहाँ जाकर फिर चलना शेष नहीं रहता वो स्थान किसको मिलता है जो विज्ञान सारथी है विचार पूर्वक अपनी यात्रा प्रारंभ करता है अपने मन को काबू में रख करके पर यात्रा करता है उसको तो रास्ते का परला पार मिल जाता है वो क्या है भाई परला पार आखिर है क्या तो जहाँ विष्णु भगवान सोते हैं तद विष्णु परमम पदम विष्णुपना जिसको छोड़ करके कहीं दाएं बाएं आगे हटता जाता नहीं है विष्णु भगवान जिस पर सोते हैं जिस अधिष्ठान पर जिस अधिष्ठान में विष्णु भगवान का उदय विलय होता है वो विष्णु भगवान का परम पद मन पद है चार विष्णु के विश्वपद तेजस पद प्राज्ञ पद और तुरीय पद परम पदम माने पद में जो करला है मन तुरय है ये विष्णु शब्द जो है इसका अर्थ होता है कि जो सारी दुनिया को घेरे हुए है उसको विष्णु बोलते हैं देवेष्टि विश्वा हाँ। देवेष्टि जो देशकर जैसे देशकर पुस्तक को लपेट करके अपने भीतर रखता है देशकन बड़ा होता है ना और पुस्तक छोटी होती है इसी प्रकार ये जो दृश्य प्रपंच है इसको जो अपने भीतर लपेट के पुड़िया में बंद दवा की तरह जिसने रख छोड़ा है जैसे घड़े को मिट्टी जैसे तरंग को पानी जैसे लपट को आग जैसे सांस को हवा जैसे घटाकाश को महाकाश जैसे दृश्य को दृष्टा घेरे हुए है माने जैसे शांत को अनंत घेरे हुए है हाँ। जैसे शादी को अनादि घेरे हुए का इसी प्रकार हाँ। ये अपना स्वरूप जिसके बाहर दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं जिसके सिवाय उसका नाम है विष्णु का परम पद अगर उसकी उपलब्धि हो गई अपने स्वरूप के रूप में जान लिया तो न कहीं जाना है न आना है न उठना है न बैठना है न अपना है न कराया है सब कुछ जो का क्यों परमात्मा का स्वरूप ही है इस प्रकार ये नौ मंत्र हो गए वहाँ हो गए थे पहले प्रेम कुटी में उसको दोहरा दिया अब दसवा जो मंत्र है उसकी व्याख्या कल से प्रारंभ करेंगे